الشمس विभू विभू उपस्थित सज्जनों मातृशक्ति हम आज के उत्तम कार्यों को ईश्वर की कृपा से ईश्वर प्रदत्त सामर्थ्य से कर पाए इसी हेतु हम परमात्मा का धन्यवाद करते रहें और करना चाहिए आज आपके समक्ष बात रखी जाएगी गुरु परंपरा की ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु व्यक्ति के कर्तव्यों का प्रकरण चल रहा था जो व्यक्ति ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना चाहता है उसको एक वैदिक विद्वान अनुभवी सत्यवादी योगाभ्यासी गुरु की आवश्यकता रहती है बिना किसी सच्चे गुरु के इस विद्या का मिलना कठिन है एक तो व्यक्ति में ये न्यूनता कमी देखी जाती है कि वह किसी को अपना गुरु ही नहीं बनाता और विशेष रूप से गुरु परंपरा की भूल त्रुटि अपने आर्य समाज में अधिक होती है इतना तो हम समझते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अयोग्य गुरु अवैदिक आचार्य जो वेदों के विद्वान नहीं जो व्यक्ति योगाभ्यास में गति नहीं रखते जिनकी मान्यताएं वेदों के विरुद्ध हैं खान पान जिनका ठीक नहीं है उद्देश्य भी उनका ब्रह्म प्राप्ति नहीं है इस प्रकार की झूठी गुरु परंपरा का खंडन किया है जो हानिकारक गुरु परंपरा चली आज भी है उसका खंडन किया स्वामी जी वे ऋषिकृत ग्रंथों के विरुद्ध शिक्षा देने वाले उनके विरुद्ध मंतव्य सिद्धांत वाले खान पान में बिल्कुल नियंत्रण न रखने वाले और गुरु बनने की बात रखते हुए लोगों को बह जाके उनका धन लूटने वाले आचारहीनता की बहुत कुछ बातें करने वाले इस प्रकार से गुरु बनते जाते हैं और उनकी परंपरा चलती जाती है भी ऐसी परंपराएं आपको भारत में मिलेंगी माताएं किन्हीं साधुओं के पांच वर्ष का बालक आठ वर्ष का बालक दस वर्ष का बालक समर्पित कर देती है अब भी ऐसी परंपराएं मिलती है वो आठ दस वर्ष का बालक उस गुरु साधु जी के पास में रहना और जो वो कुछ कहता है वही वो करता है वो अपनी सेवा करवाता है विशेष रूप से और आदेश जैसा बालक को मिलता जाता है वो वैसा ही करता है ये बालक की बात नहीं है युवावस्था में भी हमने हो सकता है वो बालक थे जब गए होंगे गुरु के पास अब भी 30 वर्ष का 25 वर्ष का युवक बन गया है उससे जब पूछा जाता है कि आप कितने पढ़े हैं और आप इस समय क्या पढ़ रहे हैं वो कहता है मैं कुछ पढ़ा पढ़ाया कुछ नहीं गुरु जी की कृपा है गुरु जी जो बताते हैं वो जो है मैं करता हूं तो आप कुछ पढ़ लेवे कुछ सीख लेवे उन्होंने कहा कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता गुरु की कृपा से सब कुछ हो जाता अब भी ऐसी परंपरा मिलेगी आप